ये है मेरी पसंद मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार आज के प्रोग्राम की शुरुआत शकील बदायूनी के इस शेर के साथ कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया दोस्तों ये जो मोहब्बत है ना ये ज़रा अटपटी सी चीज़ है या फिर कह लीजिए कि एक ऐसी मिठाई है जिसे जो खाए वो भी पचता है ना खाए वो भी पछताए अब हमारी हिंदी फिल्मों को ही ले लीजिए नब्बे से पचानवे फ़ीसदी फिल्में इश्क और मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती हैं और यही हाल है रेडियो पर बजने वाले गीतों का आप अगर अपनी आंखें बंद करके अपनी पसंद के दस गाने चुने तो उनमें से नौ गाने इश्क और मोहब्बत के ही निकल आएंगे और उनमें भी आधे तो दर्द भरे होंगे आप मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर अकबर इलाहाबादी फ़िराक़ गोरखपुरी अमीर मिनाई जैसे शायरों को पढ़िए तो आपको उनकी मोहब्बत की शायरी दर्द जुदाई तड़प बेवफाई जैसे भावों से भरी पड़ी मिलेंगी फिर ऐसा क्या है इस मोहब्बत में कि लोग एक ही नज़र में प्यार में पड़ जाते हैं और फिर उन्हें अपने महबूब के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता ऐसे प्रेमियों की हालत कैसी हो जाती है जानने के लिए सुनते हैं 1951 की फिल्म बड़े भैया का ये गीत जीएम दुर्रानी और शमशाद बेगम की आवाज़ में गीतकार हैं मनोहर खन्ना और संगीतकार प्रेमनाथ मैंने जब से तुमको देखा है मेरे दिल में गुदगुदी मेरे दिल में गुदगुदी होती है मेरे दिल में गुदगुदी है गुदगुदी हुई गुदगुदी मैं सारे गिनती रहती हूँ जब सारी दुनिया सोती है मेरे दिल में गुदगुदी मेरे दिल में गुदगुदी होती है मेरे दिल में गुदगुदी हाय गुदगुदी हुई दिल की धड़कन है ये मेरे दिल की धड़कन है या एक ढोलक सी बजती है या कोई माइंड की खुदक खुदक कर खुदक खुदक कर दिल में मेरे खुदकती है उल्फत की बुलबुल उल्फत की बुलबुल चह चह कर और चुलबुली चुलुल चुलबुली होती है मेरे दिल में मेरे दिल में गुदगुदी होती है जब सामने मेरे आते हो नजरों रोज रोज नजर लड़ जाती है फर्नीचर बन के सजाओ मेरे दिल के बंगले में फर्नीचर बन के सजाओ फिर हम तुम समझे फुर फुरफुरी होती है मेरे दिल में और मेरे दिल में गुदगुदी होती है धीरे धीरे होले होले मेरे दिल में गुदगुदी होती है मेरे दिल में गुदगुदी हाय गुदगुदी हुई गुदगुदी इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के अब ऐसी मोहब्बत का क्या करना जो अच्छे अच्छों को नाकारा कर दें न दिन की खबर हो न रात की जिगर मुरादाबादी ने क्या खूब कहा है कि ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है तो जनाब इस मोहब्बत के चक्कर में पड़ना छोड़िए और काम पे लग जाइए ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे शमशाद बेगम भी कह रही हैं 1951 की फिल्म फूलों के हार के इस गीत में जिसे लिखा है पंडित भरत व्यास ने और तर्ज बनाई हंसराज बहल ने मोहब्बत चिकनी चिकनी है कि बापू फिसल न जाना मोहब्बत चिकनी चिकनी है कि बापू फिसल न जाना ओ जमाना है जमाना है जमाना है जमाना नाजुक नाजुक है किसी से दिल न लगाना मोहब्बत चिकनी चिकनी है कि बापू फिसल न जाना आप में रखना पापू ये दिल है बड़ा मवाली काबू में रखना पापू ये दिल है बड़ा मवाली बीच बजरिया बिक जाएंगे लोटा बर्तन थाली बीच बजरिया बिक जाएंगे लोटा बर्तन थाली ओ ये धंधा दे ये धंधा है है ये धंधा उल्टा उल्टा है फिर उनसे लटक न जाना मोहब्बत चिकनी दिखती है कि बाबू फिसल न जाना और कुर्फी वाले गोरे गोरे मुखड़े ये पाउडर और कुर्फी वाले जाते हैं नकद नारायण ले जाते हैं दुखड़े ले जाते हैं नकद नारायण दे जाते हैं दुखड़े ये गलिया रे ये गलिया है ये गलिया है ये गलिया उलझी उलझी है आगे कदम बढ़ाना मोहब्बत चिकनी चिकनी है कि बाबू फिसल न जाना को जागोगे भैया दिन में सो तो जाओगे रातों को जागोगे भैया दिन में सो तो जाओगे किसे ढूंढने निकले हो तुम खुद ही खो जाओगे किसे ढूंढने निकले हो तुम खुद ही खो जाओगे ओ तगरिया है तगरिया है डगरिया है डगरिया ऊंची नीची है मुसाफिर भटक न जाना मोहब्बत चिकनी चिकनी है कि बाबू फिसल न जाना जमाना नाजुक नाजुक है किसी से दिल न लगाना दोस्तों अंग्रेजी में बड़ी पुरानी कहावत है लव इज़ ब्लाइंड यानी प्यार अंधा होता है भाई हम तो कहते हैं प्यार अंधा ही नहीं गूंगा और बहरा भी होता है तभी तो अपने महबूब को देखकर अपने होशो हवास खो बैठता है और हम जैसों की पते की बात इनके कान में पड़ती ही नहीं अब इन दोनों को ही देखिए हमारे इतना समझाने के बाद भी ऐसे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो छम से उनकी ज़िंदगी में आए और उनका दिल रातों की नींद और चैन चुरा कर चला जाए अब किसी को अपने हाथ जलाने का शौक़ हो तो हम क्या कर सकते हैं हम तो बस आपको ये गाना सुनवा सकते हैं जिन्हें ये दोनों यार मिलकर गा रहे हैं फिल्म 1950 की हंसते आंसू गीतकार शेवन रिजवी संगीत गुलाम मोहम्मद का और इस गीत को गाया है मुकेश और जीएम दुर्रानी ने ये मस्ती ये मौजे ये ठंडी हवाएं यही घर बनाने को जी चाहता है क्या दिल ये कहता है दिल ये कहता है कि बिस्तर इसी चौखट पे लगा दो दिल ये कहता है कि बिस्तर इसी चौखट पे लगा दो आ ऐसे में कोई क्षमते ऐसे में कोई क्षमते जो आ जाए तो क्या हो जो आ जाए तो क्या हो ऊंची एड़ियों का सली पर भी पड़ा हो सली पर भी पड़ा हो ऐसे में कोई क्षमते ऐसे में कोई क्षमते जो आ जाए तो क्या हो ऐसे में कोई क्षमते जो आ जाए तो क्या हो जो आ जाए तो क्या हो लिए तोहफे पे पड़े हूँ हम साथ सब किए तोहफे पे पड़े हूँ हम उनके इंतजार में खिड़की में खड़े हो खिड़की में खड़े हो ऐसे में कोई क्षमते ऐसे में कोई क्षमते जो आ जाए तो क्या हो ऐसे में कोई क्षमते जो आ जाए तो क्या हो जो आ जाए तो क्या हो मगर मगर पा सा पा मगर सा गाने तो हमें मौज में हम आए हुए हैं तो हम आए हुए हैं गाने तो हमें मौज में हम आए हुए हैं तो हम आए हुए हैं इस मौज से सरियारों के खुजलाए हुए हैं खुजलाए हुए हैं दिल ये कहता है दिल ये कहता है कि बिस्तर किसी चौखट पे लगा दो दिल ये कहता है कि बिस्तर किसी चौखट पे लगा दो आ ऐसे में कोई क्षमते ऐसे में कोई क्षमते जो आ जाए तो क्या हो जो आ जाए तो क्या हो वो सामने हो जाम मोहब्बत का भरा हो एक ऊंची एड़ियों का स्लीपर भी पड़ा हो अब मोहब्बत के भरे हुए जाम तक तो बात ठीक है पर ये ऊंची एड़ियों का स्लीपर आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है खासकर तब जब कोई सच में छम से आ जाए और आप उनसे ज़बरदस्ती इश्क लड़ाने की कोशिश करें अरे सुनिए तो सही देखिए हमारी बात मानिए ये मोहतरमा खूबसूरत ज़रूर हैं पर ज़रूरी नहीं कि इन्हें इन सब चक्करों में पढ़ना पसंद हो तो ज़रा संभल के ये तो मानने से रहे तो ऐसा करते हैं हम भी चुपके से देखते हैं कि ये अपनी कोशिश में कामयाब होते भी हैं कि नहीं सुनते हैं 1950 की फिल्म मांग का ये गीत गीतकार सागर बदायूनी उस्मानी और संगीतकार गुलाम मोहम्मद <laughs> बैठो बात सुनो आओ बैठो बात सुनो कुछ प्यार करें इकरार करें कुछ प्यार करें इकरार करें दो दिलों को एक करें दो दिलों को एक करें और आँखें दोनों चार करें और आँखें दोनों चार करें आओ बैठो बात सुनो करो बस दूर रहो बिन प्रेम के हम हैं यूं ही भले माफ करो बस दूर रहो बिन प्रेम के हम हैं यूं ही भले कौन ये सौदा मोल सर में हो आग में जिंदा कौन जले आओ प्यार करें बस दूर रहो आओ बैठो बात सुनो प्रेम बिना सब जीवन देखा एक रूप जवानी प्रेम बिना सब जीवन देखा एक रूप जवानी फूल खिले या कोयल बोले हो प्रेम बिना बेमानी आओ प्यार करें बस दूर रहो आओ बैठो बात सुनो सुनो जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए हमने तो पहले ही कहा था कि जो भी करिए सोच समझ कर करिए वो तो आपकी तकदीर अच्छी थी कि ऊंची एड़ी का स्लीपर खाने से बच गए वरना न जाने इन्होंने आपका क्या हाल करना था तभी तो हमने कहा था कि ये मोहब्बत बड़ी टेढ़ी चीज़ है एक बार इस चक्कर में पड़े तो समझो आपका दिवाला निकलना तय है यकीन नहीं होता आइए सुनवाते हैं आपको 1951 की फिल्म अलबेला का ये गीत चीतलकर की आवाज़ में गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार सी रामचंद्र हाँ, हसीनों से मोहब्बत का हाँ, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता जाता है कभी काजल की फरमाइश कभी पाउडर की फरमाइश कभी सर्कस की जिद है और कभी थिएटर की फरमाइश निकलवाती है दीवाला अजी दिलबर की फरमाइश कचेरी और थाने में बहुत ही नाम होता है कचेरी और थाने में बहुत ही नाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है टके हूँ जेब में तो अरे टके हों जेब में तो हुस्न वाले दिल लगाते हैं गले में डाल कर बाहें बड़ी उल्फत जताते हैं आ, हाँ, अगर आशिक हो कड़का तो दूर से रास्ता दिखाते हैं हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है अगर मानो पते की बात कहता हूँ बड़ी अच्छी हसीनों से तो साहब खटमलों की दोस्ती अच्छी अरे लहू पीता है खटमल देख कर कोई घड़ी अच्छी हसीनों का मगर दिन रात यही काम होता है हसीनों का मगर दिन रात यही काम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है तो समझे जनाब हसीनों से मोहब्बत का क्या अंजाम होता है लगता है ये तो कुछ कुछ समझ चुके हैं पर इनके दोस्त के पल्ले अभी तक हमारी बात नहीं पड़ी अकबर इलाहाबादी ने इसीलिए तो कहा है इश्क नाजुक मिजाज है बहुत अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता इन्हें भी तभी अकल आएगी जब इन्हें इस बात का अनुभव होगा फिलहाल तो इन्हें एक मोहतरमा से इश्क हो गया है ये मोहतरमा भी इन्हें पसंद करती हैं पर इन्हें उनकी मोहब्बत पर यकीन नहीं है और इस बात को ये कुछ इस तरह बयां कर रहे हैं सुनते हैं उन्नीस की फिल्म प्यार की बातें का ये गीत आशा भोसले और जी एम दुर्रानी की आवाज़ में गीत एम एल खन्ना का है और संगीतकार हैं शर्मा जी यानी खयाम रुपए में सोलाने हमसे नफरत है हमको रुपए में दो रुपए उनसे मोहब्बत है लेकिन फिर भी वो हमसे मोहब्बत करते हैं कभी एक आना कभी दो आने जी कभी एक आना कभी दो आने वो हमसे मोहब्बत करते हैं कभी एक आना कभी दो आने जी कभी एक आना कभी दो आने की बंदूक से क्यों मार दिया तूने दो आंखों की बंदूक से क्यों मार दिया लेकिन फिर भी वो हमसे मोहब्बत करते हैं कभी एक आना कभी दो आने जी कभी एक आना कभी दो आने वो हमसे मोहब्बत करते हैं कभी एक आना कभी दो आने जी कभी एक आना कभी दो आने तो आने कभी एक आना कभी दो आने इब्तदाए इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या हमने तो पहले ही कहा था कि ये इश्क नहीं आसान अब या तो अपने दिलदार के खंजर से नाक कटवाने के लिए तैयार हो जाइए या फिर जितनी जल्दी हो सके वहाँ से रफू चक्कर हो जाइए बड़ी ख़तरनाक महबूबा पसंद कर ली आपने तभी तो हम आपसे कह रहे थे कि दिल न लगाना मेरी जान दिल न लगाना आइए सुनवाते हैं आपको भी ये गीत चीतल कर रामचंद्र की आवाज़ में 1944 की फिल्म लाल हवेली से गीतकार शम्स लखनवी और संगीतकार मीर साहिब इस गीत को अपने ज़माने के मशहूर अदाकार याकूब पर फिल्माया गया था तुम भूल के फंदे में हसीनों के न आना तुम भूल के फंदे में हसीनों के न आना दिल न लगाना मेरी जा दिल न लगाना मेरी जा दिल न लगाना इन मस्त नजर वालों से आंखें न लड़ाना इन मस्त नजर वालों से आंखें न लड़ाना आंखें न लड़ाना दिल न लगाना मेरी जान दिल न लगाना मेरी जान दिल न लगाना वादों का भरोसा नहीं माशूक में झूठे वादों का भरोसा नहीं माशूक में झूठे बातें हैं बहुत भोली मगर दिल के हैं खोते बातें हैं बहुत भोली मगर दिल के हैं खोते कुदरत ने सिखाया है इन्हें दिल का चुराना कुदरत ने सिखाया है इन्हें दिल का चुराना दिल में लगाना मेरे जा दिल लगाना मेरे जा दिल लगाना फिरते तो हैं जो बाजारों में ये चोटियाँ डाले फिरते तो हैं जो बाजारों में ये चोटियाँ डाले जुल्फों का फकत धोखा है दो नाग है पाले जुल्फों का फकत धोखा है दो नाग है पाले दस जाएंगे देखो कभी नजदीक न जाना बस जाएंगे देखो कभी नजदीक न जाना दिल न लगाना मेरी जा दिल न लगाना मेरी जा दिल न लगाना तुम भूल के फंदे में हसीनों के न आना तुम भूल के फंदे में हसीनों के न आना दिल न लगाना मेरी जा दिल न लगाना मेरी जा दिल न लगाना वादों का भरोसा नहीं माशूक हैं झूठे बातें हैं बहुत भोली मगर दिल के हैं खोटे कुदरत ने सिखाया है इन्हें दिल का चुराना दिल न लगाना मेरी जान दिल न लगाना देखिए हमने कहा था ना आपसे मोहब्बत का आगाज़ भले ही दिल में गुदगुदी कराने वाला हो पर अंजाम तक पहुँचते पहुँचते अच्छे अच्छों की जान निकल जाती है अब इन कल्लन मियाँ को ही देखिए अपनी शबनम को मनाने के लिए कुतुब मीनार पर चढ़कर अपने प्यार का ऐलान करने के लिए तैयार हैं पर शबनम है कि इन्हें पिटवाने पर तुली हैं सुनते हैं उन्नीस की फिल्म चांदनी चौक का अपने ज़माने का ये मशहूर गीत सुंदर और शमशाद बेगम की आवाज़ में गीत राजा मेहंदी अली खां का और तर्ज रोशन ने बनाई है तब मीनार पर चढ़ कर ये दुनिया को बताना है हरी दुनिया ये कल्लन अपनी शबनम का दीवाना है दीवाना है दीवाना है Thank you. इस दिल में तुम्हारी याद आई इस दिल में तुम्हारी याद आई कभी चार बजे वो कभी पाँच बजे वो कभी चार बजे वो कभी पाँच बजे मेरे दिल की मुर्गी चिल्लाई मेरे दिल की मुर्गी कभी चार बजे वो कभी पाँच बजे वो कभी चार बजे वो कभी पाँच बजे चार बजे कभी पाँच बजे कभी चार बजे कर तुझको ढूंढा दिल्ली की अंधेरी गलियों में जी दिल्ली की अंधेरी गलियों में दिल्ली माँ बजे पाँच पाँच बजे फिर चार की गठरी सर पे लिए चांदनी चौक में फिरते रहे हाय फिरते रहे फिर आंसू बनकर पंपारा तेरे घोड़े कदम पर गिरते रहे बजे कभी चार बजे अब पाँच बजे इनकार न कर चल साथ मेरे तुझे दिल्ली की सैर कराऊंगा तुझे दाखिला दिलाऊंगा जंतर मंतर ले जाऊंगा तो हर हलवा खिलवाऊंगा फिर दही बड़े चटवाऊंगा फिर दाल बीजी सुलवाऊंगा फिर नाच में करवाऊंगा तुझे वो दुकान दिखलाऊंगा जहाँ मक्खिया जहाँ मक्खिया मारे हलवाई वो जहाँ मक्खिया मारे हलवाई वो कभी चार बजे वो कभी पाँच बजे वो कभी चार बजे वो कभी पाँच बजे चार बजे कभी पाँच बजे कभी चार बजे पाँच बजे तो जनाब अब तो बात समझ में आई होगी आपकी कि ये मोहब्बत की मिठाई जो है वो क्या चीज़ है शुरू शुरू में तो ये बड़ी मीठी लगती है पर साथ में दुख दर्द आंसू जुदाई तड़प इन सब को भी लेकर आती है तभी तो मीर तकी मीर ने कहा था कि आग थे इब्तदाए इश्क में हम अब जो हैं खाक इंतहा है ये और अब जो कुछ भी कहना सुनना बचा है उसे हम आपको इस गीत के ज़रिए ही कह देते हैं फिल्म है 1947 की दिल की रानी संगीतकार S D Burman Y N Joshi के लिखे इस गीत को गाया है अदाकार श्याम सुंदर ने मोहब्बत की खाना कभी ना मिठाई क्या समझे कभी ना खाना मोहब्बत की खाना मोहब्बत की खाना कभी ना मिठाई इसी में है अपने इसी में है अपने जिगर की भलाई मोहब्बत की बर्फी जब मजनू में खाई तो सारी उम्र उसने रो तो रो गवाई मिठाई ने उसकी मिठाई ने उसकी तबाही बुलाई मोहब्बत की खाना मोहब्बत की खाना कभी ना मिठाई मोहब्बत के लड्डू मोहब्बत के पेड़े जो खाते हैं लगते हैं उनको थपेड़े जो खाते हैं जो खाते हैं लगते हैं उनको थपेड़े और हाँ, उनको थपेड़े कहा मानो मेरा मान जा भाई मिठाई ना खाना हा? हम्म। कहा मानो मेरा अरे मेरे भाई मोहब्बत की खाना मोहब्बत की खाना कभी ना मिठाई मोहब्बत की खाना मोहब्बत की खाना कभी ना मिठाई मारू झापर लगता है मोहब्बत को लेकर आप बड़े सीरियस हो गए हैं भाई हमने तो थोड़ी सी दिल लगी की थी वरना मोहब्बत तो एक ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती और अगर दोनों तरफ आग बराबर लगी हो तो ऐसे दिलों को भला मिलने से कौन रोक सकता है दाग दहलवी ने क्या खूब कहा है कि खुदा रखे मोहब्बत ने किए आबाद घर दोनों मैं उनके दिल में रहता हूँ वो मेरे दिल में रहते हैं मोहब्बत के इसी एहसास को बयां करता हुआ एक गीत आइए सुनते हैं प्रोग्राम के आखिर में 1944 की फिल्म भंवरा से कुंदन लाल सहगल अमीर बाई कर्नाटकी नसीम अख्तर और साथियों की आवाज़ में गीत केदार शर्मा का और संगीतकार खेमचंद प्रकाश और इस गीत के साथ ही मुझे यानी ईशा को इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को तब तक के लिए नमस्कार उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो हर बात में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो दिया जिसने दिल दिया जिसने दिल लुट गया वो बेचारा लुट गया वो बेचारा दिया जिसने भोरा दिल दिया जिसने ओ बेटा दिल लुट गया वो बेचारा लुट गया वो बेचारा जिया का से नीची नजरों ने मारा जिया का से थी नजरों ने मारा लुट गया वो बेचारा लुट गया वो बेचारा दिया जिसने दिया जिसने भूल गया वो बेचारा भूल गया वो बेचारा नहीं भूलती वो अदा क्या अदा थी नहीं भूलती वो अदा क्या अदा थी निपटना तुम्हारा झिझकना तुम्हारा निपटना तुम्हारा झिझकना तुम्हारा लुट गया वो बेचारा लुट गया वो बेचारा जिया नजरों ने मारा जिया काज से मारा लुट गया वो बेचारा लुट गया वो बेचारा मेरा आशिया भूख डाला गुडों ने मेरा आशिया भूख डाला गुडों ने बहारों ने आकर मेरा घर उजाड़ा बहारों ने आकर मेरा घर उजाड़ा लुट गया बहुत बेचारा जवानी को देखा बूढ़ा बापू सारा जवानी को देखा बूढ़ा बापू सारा लुट गया वो बेचारा बेटा लुट गया वो बेचारा